जिज्ञासा समाधान में सृष्टि के प्रारंभ में प्रलय के बाद जो सृष्टि होती है उसके प्रारंभ में क्या स्थिति होती है उसके बारे में बहुत सारे प्रश्न इनके हैं आ जाइए जिनको सुनाई नहीं दे रहा आवाज थोड़ी तेज कर दी तो इनका प्रश्न है कि सभी जातियां मनुष्य पशु पक्षी पेड़ पौधे इनका पहला जन्म अमेथुनी सृष्टि से होता है और वो पृथ्वी के गर्भ से निकलते हैं मनुष्य भी निकलते हैं जैसा महर्षि दयानंद ने लिखा तो प्रश्न है कि जब मनुष्य निकलते हैं तो कितनी संख्या में निकलते हैं ये कुछ नहीं कह सकते हम्म? इसमें कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है लेकिन ये अवश्य कि जितनी संख्या आज है उतनी नहीं थी कहीं किसी ग्रंथ में प्रमाण लिखा हो लेकिन इसकी कोई जानकारी नहीं है और कोई प्रमाण नहीं है जिससे हम जान सकें अनुमान कर सकें संभावना हम कर सकते हैं कि इतने मनुष्य नहीं होंगे जितने आज हैं ठीक है फिर है कि सारे मनुष्य एक ही स्थान में निकलते हैं या अलग अलग अलग अलग का मतलब है अलग अलग स्थानों राज्यों देशों में निकलते हैं इसमें महर्षि दयानंद ने लिख रखा है उत्तर उन्होंने लिख रखा है कि तिब्बत प्रदेश में त्रिवृष्ट प्रदेश तिब्बत जो है ऊपर का भाग जो है तो वहां मानव सृष्टि सर्वप्रथम हुई पेड़ पौधों के लिए नहीं मानव सृष्टि के लिए बाकी पशु पक्षी आदि पेड़ पौधे सब जगह समुद्र में जहां भी होते हैं उस वो सब जगह पूरी पृथ्वी पे होंगे ये संभावना हम कर सकते हैं लेकिन मनुष्यों के लिए उन्होंने लिखा हुआ है वो त्रिवृष्ट प्रदेश में तिब्बत प्रदेश में वहां हुए तो उसका कुछ इलाका जितना भी होगा कई सौ किलोमीटर का है जितना भी कोई एक छोटा स्थान तो नहीं होगा वो बड़ा विस्तृत स्थान वहां पर मनुष्यों की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई उसके बाद फिर वो नीचे उतरे जगह जगह गए फैले वो आज पूरी पृथ्वी के ऊपर अलग अलग स्थानों पर है प्रश्न है ईश्वर चार ऋषियों को ज्ञान देता है तो बाकी के मनुष्य व्यवहारिक ज्ञान कैसे कर पाते हैं जैसे खाना पीना सोना सभी क्रियाओं को कैसे करना इनका ज्ञान कहां से आता है तो दो बातें इसमें जुड़ी हुई हैं दो दो तरह से एक तो जैसे पशुओं को ज्ञान होता है प्रारंभ में उठना बैठना इत्यादि उनका अपना एक स्वाभाविक ज्ञान होता है वो भी ईश्वर की व्यवस्था से होता है तो जो सृष्टि के प्रारंभ के मनुष्य हैं वो भी एक तरह से पशु के समान ही है वो बचपन से वैसा सीखने को उनको नहीं मिलता वो बड़ी अवस्था में होते हैं और प्रारंभ के कुछ वर्ष जैसे एक शिशु के प्रारंभ के कुछ वर्ष गुंज रहे हैं प्रारंभ के कुछ वर्ष जिस तरह से पाप पुण्य वाले नहीं होते वो अज्ञानी रहता है चार पांच वर्ष या जितना भी है छह वर्ष आठ वर्ष ऐसा कुछ जितना भी है वो एक लगभग अज्ञानी जैसा पशुवत जीवन रहता है छोटे बच्चे का भी इसी तरह से सृष्टि के प्रारंभ में जब जो मनुष्य या आए तो उनका अन्य मनुष्यों की तरह जन्मते ही कुछ पापुण्य लगने लगे या सब कुछ हो ऐसा नहीं तो एक तो पशु पक्षियों की तरह कुछ बातें स्वभावतः उन मनुष्यों में भी अवश्य रही होंगी प्रश्न के पीछे पृष्ठभूमि क्या कि आदि सृष्टि में ईश्वर ने चार ऋषियों को ज्ञान दिया तो उन्होंने दूसरों को बताया तब उन्होंने सीखा तो हम इसके साथ क्या जोड़ते हैं कि सब कुछ उन्होंने ही सिखाया तो उन्होंने सीखा ऐसा नहीं कुछ चीजें स्वभावतः जो हो सकती हैं व्यवहारिक ज्ञान वो तो परमात्मा ने सबके लिए दिया वो सबको उपलब्ध कराया ये वेदों का विशेष ज्ञान जो है वो चार ऋषियों को दिया नहीं तो उसके बिना ये हो नहीं सकता आपका प्रश्न ठीक है क्योंकि वहां समस्या आएगी इन्होंने चारों ने सीखा फिर बताया तब तक उनका क्या हुआ एक तो पशु आदि के समान जो ज्ञान प्राप्त होता है स्वाभाविक वो प्राप्त ईश्वर की तरफ से दूसरी बात सृष्टि के प्रारंभ में जो आत्माएं आई भी जिनका मनुष्य जन्म हुआ तो पिछली सृष्टि में भी तो थी वो उनको मुक्ति नहीं हुई थी लेकिन पिछली सृष्टि में भी उनका जीवन तो चल ही रहा था फिर प्रलय आ गई तो उनका जन्म मरण रुक गया फिर पुनः सृष्टि बनी तो फिर प्रारंभ हुआ तो सृष्टि के प्रारंभ में जब आती हैं मनुष्य भी या अन्य भी पशु पक्षी तो उनके साथ में उनके संस्कार भी होते हैं पिछले जन्मों के पिछली सृष्टियों के उनका कर्माशय उनके संस्कार वो साथ में होते हैं एकदम बिल्कुल अनपढ़ और बिल्कुल साफ स्लेट वाले कोई संस्कार नहीं कुछ नहीं ऐसा नहीं सोचिए उनके लिए क्योंकि वो न जाने कितने जन्म पहले ले चुकी हैं वो तो सृष्टि समाप्त हो गई प्रलय हो गई इसलिए वो क्रम रुक गया केवल बाद में सृष्टि प्रारंभ हुई तो उनको उसी प्रकार का चित्त मिलता है जैसा कि सृष्टि के प्रलय के समय उनका था वैसे ही संस्कार बिल्कुल वैसे के वैसे उस तरह का चित्त उनको नई सृष्टि के प्रारंभ में भी मिलता है तो उसके उन संस्कारों के आधार पर बहुत सी चीजें होती हैं बहुत सी प्रवृत्तियां होती हैं वो भी चलती हैं ठीक है तो इसलिए ईश्वर ने चार ऋषियों को ज्ञान दिया तो जब तक उन चार ऋषियों से कोई ज्ञान ना मिले तब तक अन्य मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकते ऐसा नहीं आगे लिखा है कि पृथ्वी गर्भ पृथ्वी के निकल से निकलते ही ईश्वर उन चार ऋषियों को कितने दिन में ज्ञान देता है देखिए ये भी जानना कठिन है लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि एकदम तो नहीं दे सकता वो चार ऋषि भी जन्मते ही उनको दे दिया हो ऐसा भी नहीं लगता वो भी औरों की तरह से उत्पन्न हुए कुछ व्यवहार खाना पीना उठना बैठना ये सब चले होंगे पशुओं के समान प्रवृत्ति हुई होगी संसार को देखा होगा ऐसे देखते रहे और उस काल में उनको ज्ञान परमात्मा की तरफ से विशेष ज्ञान जो वेदों का है उनको होता रहा ठीक है उसमें समय भी लगा होगा एकदम दे दिया यूं का यूं ऐसा तो नहीं समझ में आता लेकिन उसमें कुछ समय भी लगा होगा उनकी जैसे जैसे उनमें विकास हुआ होगा उनको उसकी क्षमता के अनुसार ईश्वर ने धीरे धीरे ज्ञान दिया होगा फिर भी कितने दिन में दिया ये कुछ कह नहीं सकते आगे इनका प्रश्न है कि अगर एक दिन में देता है तो तो एक दिन तो असंभव है वो मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा लेकिन कुछ महीने कुछ वर्ष तो हमें मानना पड़ेगा अगर एक दिन में देता है तो मात्र चार ऋषि सब मनुष्यों को ज्ञान कैसे बांट सकते हैं वैसे एक दिन में देने का और सब मनुष्यों को देने का में कोई संबंध नहीं है वो प्रश्न आपका उससे तालमेल में नहीं है लेकिन चार ऋषि सबको ज्ञान कैसे बांट सकते हैं यानी चार ऋषि भी एक दिन में ही सारा बांट दें सबको वो संभव नहीं है एक दिन में इन चार ऋषियों को मिल गया और इन्होंने ही एक दिन में सबको बांट दिया ऐसा बिल्कुल ना सोचिए वर्षों लगे होंगे इसमें आगे है कि क्या चारों ऋषि एक स्थान में पैदा होते हैं इसका भी कोई उल्लेख नहीं मिलता लेकिन त्रिविष्ट प्रदेश जो भी है उसमें होंगे एकदम एक ही घर में आसपास में हो बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते हो सकता है कहाँ कहाँ जैसे भी ईश्वर ने किया होगा उसका कुछ जानकारी नहीं है उनकी कोई भाषा होती है तो भाषा का ज्ञान भी ईश्वर ही देता है उनको उस समय भाषा का ज्ञान वैदिक भाषा का ज्ञान भी ईश्वर ही देता है उन सबको वही उनकी भाषा होती है मैंने सुना है नहीं होती नहीं भाषा तो होती है वैदिक भाषा होती है किसी प्रमाणिक उसमें कहीं आपने देखा कि भाई उनकी कोई भाषा नहीं होती है ऐसा कहीं देखा है वो उसके उसके ऊपर अभी आगे बात करते हैं कि ईश्वर कैसे ज्ञान दे देता है उसकी जैसी संभावना लगती है लेकिन मनुष्य है भाषा से के बिना वो काम नहीं करेगा और कोई भी ज्ञान दिया जाता है तो उसमें भाषा तो साथ में रहती ही है भाषा एक अनुभवात्मक ज्ञान होता है उसमें भाषा की आवश्यकता नहीं होती लेकिन अगर दूसरे से हम सीखते हैं तो उसमें भाषा अपेक्षित होती है अच्छा अगर बिना भाषा के ज्ञान दे भी दिया तो वो वो चार ऋषि अन्य मनुष्यों को कैसे ज्ञान देंगे उनको भाषा तो चाहिएगी तो भाषा का ज्ञान तो वैसे भी आवश्यक है अन्यों के लिए भी और इनके लिए भी बताने वालों के लिए भी और सुनने वालों के लिए भी तो मैंने सुना है नहीं होती अगर है तो कौन सी कौन सी मतलब वैदिक भाषा अगर नहीं तो ज्ञान किस माध्यम से देते थे ठीक है भाषा तो है आगे अगला प्रश्न है ज्ञान केवल चार ऋषियों को ही मिलता है या तो बाकी के मनुष्य मनुष्य किस प्रकार से किस माध्यम से उनकी ऋषियों की बात समझते हैं सामान्य ज्ञान से कुछ चीजें वो जान ही लेते हैं जैसा मैंने पहले बताया उठना बैठना आदि प्रक्रिया वो जान लेते हैं कर लेते हैं और भाषा का ज्ञान प्रारंभिक रूप से तो प्रथम बार ईश्वर ही दे सकता है अन्य लोगों को भी जो ज्ञान दिया अन्य लोगों को भी बोलने का ज्ञान उन चार ऋषियों ने ही दिया हो ऐसा तो नहीं समझ में आता उन चार ऋषियों को भी भाषा का ज्ञान दिया औरों को भी दिया व्यवहार के योग्य न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति प्रारंभ में ईश्वर को ही करनी होती है और कोई उपाय नहीं है वहां पर तो वो ज्ञान जो भाषा आदि का दिया वो चार ऋषियों को भी और अन्यों को भी सबको मानना ये संगत लगता है तो वो चार ऋषियों की बात कैसे समझते थे भाषा से जैसे आज समझते हैं वैसे उस समय भी भाषा से ही समझते हैं यही संभावना प्रबल है आगे आप लिख रहे हैं कि जैसे एक अध्यापक को संस्कृत आती है तो अपने विद्यार्थी को तभी सिखा सकता है जब अध्यापक और विद्यार्थी में व्यवहार विचारों का आदान प्रदान करने के लिए कोई माध्यम हो यानी भाषा माध्यम हो ठीक बात है वो होना ही चाहिए वो होता है वहां पर भी मानना ही होगा और ऋषि कैसे समझते हैं उन्हें हमारी बात समझ में कैसे आएगी यानी चार ऋषियों के पास तो भाषा हो और अन्य लोगों के पास भाषा ना हो तो कैसे होगा अन्य लोग भी कुछ पूछे उनसे ऋषियों से तो कैसे पूछेंगे तो भाषा को तो मानना होगा ज्ञान का जो आदान प्रदान है मनुष्यों में वो भाषा के माध्यम से होता है मुख्य माध्यम वो है संकेतों आदि से हमारे ज्ञान होता है वो थोड़ी मात्रा में होता है अधिक नहीं सिखा सकते हम संकेतों में बहुत कम सिखा सकते हैं वेदों का ज्ञान और अन्य ज्ञान विज्ञान तो भाषा के माध्यम से ही होता है और बाकी के मनुष्य किस प्रकार अपने सवाल रख पाते थे क्योंकि स्त्री लगभग क्योंकि सभी सब 25 वर्ष के पैदा होते थे ऐसा कोई नियम नहीं कि भाई 25 वर्ष के वो पैदा होते तो सामान्यता कहते हैं भी सभी युवा पैदा हुए थे तो युवा कब से तो 25 वर्ष से मानेंगे इसलिए वो बात कह दी जाती है युवा का मतलब है वो अपने कामकाज खुद करने में समर्थ हो ऐसे छोटे बच्चे होते शिशु होते वो अपना कामकाज ही नहीं चला सकते थे यानी ऐसी ऐसे उत्पन्न हुए जो कि अपना कामकाज करने में समर्थ है ऐसे युवा उसके लिए कोई 25 वर्ष ही नहीं आज 15, 16, 18 साल का युवक या किशोर नव युवक अपने काम आज आराम से कर सकता है संभाल सकता है ऐसे तो किसी को निश्चित आयु का तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ पच्चीस ही नहीं पच्चीस से कम वाला भी अट्ठारह बीस वर्ष का भी बच्चा खूब अच्छी तरह अपने काम संभाल लेता है वो हो सकता है आगे प्रश्न है अगर कई दिनों में ज्ञान देता है संभावना में ये सारा ये अभ्युपगम मान करके ये प्रश्न कर रहे ना ऐसा हो तो ये यदि ऐसा हो तो ये यदि ऐसा हो तो ये प्रश्न है यदि ऐसा हो तो ये है ये जो मान करके चल रहे हैं ना ये मान करके चलते हैं अभ्युपगम जिसे कहते हैं उस भाषा में हालांकि ये किसी से सामने से नहीं बोल रहे कि कोई सामने बैठा है उसकी बात को लेके कह रहे हैं कि स्वयं में इनके जो प्रश्न उठ रहे थे कि ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा तो ये प्रश्न उठता है ऐसे जो स्वयं उहापोह होती है विचार विमर्श व्यक्ति स्वयं करता है उसको इन्होंने लिखा है इसमें तो लेकिन ये अभ्युपगम जैसी बात है अगर कई दिनों में ज्ञान देता है पहले तो वो था एक दिन वाला ज्ञान इन्होंने कहा इससे पहले जो एक दिन का था तो एक दिन में तो संभव नहीं है अगर एक दिन में नहीं अगर कई दिनों में देता है तो इनको उसमें भी दोष दिखाई दे रहा है तो क्या लिखते हैं अगर कई दिनों में ज्ञान देता है तो तब तक तो बाकी के मनुष्य गलत मार्ग पर भी जा सकते हैं यानी चार ऋषियों को दे दिया और चार ऋषियों को भी ज्ञान कई दिनों में दिया कई महीनों में साल में तो तब तक बाकी तो गलत रास्ते पे चले जाएंगे वेद के बिना गलत मार्ग पर भी जा सकते हैं क्या ईश्वर ने इस बारे में नहीं सोचा <laughs> कि ऐसी व्यवस्था से तो अव्यवस्था हो जाएगी तो जैसे बच्चों का मैंने पहले उदाहरण दिया उनके पाप और पुण्य नहीं होते उस तरह से ये एकदम नए नए आए हैं ईश्वर भी इस बात को जानता है और उनका गलत रास्तों पे जाना कोई गलत रास्तों पे नहीं होता जैसे छोटा बच्चा हो वो माता पिता के साथ में किसी दूसरे के घर पे गया और उसको वहां कोई फल रखा हुआ मिला तो बिना पूछे उठा करके खा रहा है ठीक है उसको चोरी कहते हैं क्या कोई दूसरी चीज है बिना पूछे उसने उठा ली अब बच्चे को तो जो दिखा वो उठाएगा उधर भागेगा आकर्षित होगा कोई खिलौना होगा खिलौना उठा लेगा खाने की चीज होगी खाने की उठा लेगा हाँ बड़ा बच्चा करता है बड़ा मनुष्य करता है तो उसको अवश्य गलत माना जाता है लेकिन छोटा बच्चा जब करता है उसको रोकते तो हैं उसको सिखाने का था ये तो सिखाने भाई नहीं लो अपने ये देंगे चाचा जी ताऊ जी देंगे चाची जी ताई जी देंगी तब लेना इत्यादि इत्यादि ये तो उसका प्रशिक्षण का है लेकिन उसको कोई अपराध नहीं मानता और ना उसको कोई चोरी मानता है ठीक है ऐसे ही उसने किसी खेल खेल में कोई चीज ले ली और तोड़ दी वो तो प्रयोग धर्मी है बच्चा तो वो तो <laughs> तोड़ेगा उसको रोकते हैं थोड़ा डांट भी देते हैं भले ही उसको समझाने सिखाने के लिए लेकिन उसने गलत किया उसका कोई पाप होगा ना तो बड़े उसका बुरा मानते हैं ना कुछ मानते हैं ये बच्चे करते ही हैं ऐसा इसी प्रकार से सृष्टि के प्रारंभ में जो युवक भी पैदा हुए नवयुवक नवयुवतियां जो थी उनसे भी यदि कुछ इस तरह से होता है वो उस तरह की श्रेणी में नहीं आता उसके लिए कुछ समय अपेक्षित है यहाँ एक ज्ञान का स्तर पहुंच गया कुछ समझ में आ गई अब वो प्रक्रिया प्रारंभ होती है और परमात्मा तो अव्यवस्था कर नहीं सकता आगे चार ऋषियों को ज्ञान कैसे होता है समाधि में या बिना समाधि के उनको कैसे ज्ञान होगा ईश्वर समाधि में ज्ञान देता है ये ठीक है हम सुनते हैं आज भी दे देता है कभी भी देता है सृष्टि के प्रारंभ में भी और बाद में भी सृष्टि काल में भी तो सृष्टि के प्रारंभ में जो परमात्मा ने ज्ञान दिया वो समाधि में दिया या वैसे ही दे दिया ठीक है अब इनका पहले आगे का प्रश्न भी कर लो इसी से संबंधित है कि अगर समाधि में ज्ञान होता है ये फिर अभी में देखो भाषा समझो अगर समाधि में ज्ञान होता है तो अब आगे प्रश्न उठा रहे हैं तो उन ऋषियों को कैसे पता चला यानी ज्ञान देने से पूर्व कि ध्यान में बैठना है समाधि लगानी है <laughs> तो परमात्मा <laughs> को ज्ञान देगा ये क्या कर रहे हैं ये तर्क से देख रहे हैं न्याय दर्शन की दृष्टि से तो ये कोई प्रमाण नहीं चल रहा है लेकिन अच्छा ऐसा मानेंगे तो ये होगा ऐसा होंगे तो ये होगा ये तर्क से अपनी बात को विश्लेषण हो रहा है सत्य तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है ऐसे हम सब करते रहते हैं और अगला भी इन्हीं का इसी से संबंधित है तीन प्रश्न है वो भी मैं बोल देता हूं फिर बाद में अगर ईश्वर समाधि लगा देता है सीखी तो सीख तो सकता नहीं क्योंकि ज्ञान तो दिया नहीं ज्ञान कब देगा परमात्मा समाधि लगने के बाद तो यदि समाधि में ज्ञान देता है तो उनको कैसे पता लगा कि मेरे को समाधि लगानी है या ध्यान लगाना है ठीक है एक तो ये समस्या इनको आ रही है दूसरी क्या आ रही है अगर परमात्मा समाधि लगा देता है कि उसको भी नहीं पता समाधि क्या होती है ध्यान क्या होती है लेकिन परमात्मा ने समाधि लगा दी और जान भी दे दिया दोनों काम परमात्मा ही कर देगा जैसे कि वो सुख वाले में चर्चा थी कि सुख नित्य है तो सुख का हेतु भी नित्य मान लेंगे अभी परमात्मा ज्ञान भी देता है समाधि में देता है तो समाधि उसको लगाना नहीं आता तो समाधि भी परमात्मा ने ही लगवा दी और ज्ञान भी दे दिया अगर ऐसा है तो तो अगर ईश्वर समाधि लगा देता है तो क्या ईश्वर बिना पुरुषार्थ के समाधि लगा देता है अब इस <laughs> तर्क क्या आ गया तो भाई ईश्वर तो न्यायकारी है ये सब तर्क का नमूना है बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने सोचा विचार विमर्श किया कि भाई परमात्मा ने वैसे लगा दी तो ये तो बिना पुरुषार्थ के लगा दी परमात्मा तो बिना पुरुषार्थ के देता नहीं है वो न्यायकारी है तो यहां भी अड़चन आ रही है तो यदि तो क्या ईश्वर बिना पुरुषार्थ के समाधि लगा देगा कि पवित्र आत्मा है ठीक है पवित्र आत्माएं हैं इन्होंने सुन रखा है कि भाई वो पवित्र आत्माएं थी जिनको चार वेदों का ज्ञान दिया तो ये मान करके चल रहे हैं अभी यहाँ पर प्रतितंत्र सिद्धांत या जैसे भी कि यहाँ पवित्र आत्माएं थी लेकिन कुछ कुछ कुछ पुरुषार्थ तो करते ही होंगे <laughs> भले ही पवित्र आत्मा थी कुछ तो पुरुषार्थ होता ही होगा और कुछ पुरुषार्थ हो, होगा तो फिर वही पहले वाली बात आ गई कि वो बिना जाने कैसे पुरुषार्थ कर रहे थे <laughs> ध्यान थोड़ा भी लगा रहे थे तो कैसे लगा रहे थे ये एक समस्या बनी हुई है और आगे अगर बिना समाधि के ज्ञान देता है तो पहले था कि अगर समाधि में ही देता है तो तो अगर समाधि के ज्ञान देता है तो यह भी नियम विरुद्ध है क्योंकि बिना समाधि के ज्ञान कैसे होगा ये सुन रखा है इन्होंने कि भाई समाधि में ईश्वर देता है तो बिना समाधि के भी नहीं हो सकता दोनों तरफ से फंस गए समाधि लगा के देता है तो तो भी समस्या है वो लगा नहीं सकते समाधि समाधि लगा लें तो समस्या है और बिना समाधि देखे तो भी सिद्धांत विरुद्ध होता है तो पहली बात तो जो जिन चार पवित्र आत्माओं को ये जान देता है वो कौन होती हैं जो पूर्व सृष्टि की सबसे श्रेष्ठ चार आत्माएं होती हैं पूर्व सृष्टि की अंत में उस समय पूर्व सृष्टि का अंत जब समाप्ति चल रही थी उस काल में जो चार सबसे श्रेष्ठ सबसे पुण्य आत्माएं थी उनको ईश्वर यहां पर जान देता है उनको माध्यम बनाता है ज्ञान देने का अभी थोड़ी देर बाद में कर लेते ठीक है दयानंद ने लिखा है और हम ये संभावना कर सकते हैं इसकी संभावना प्रबल है कि वो जो चार पुण्यात्माएं होंगी वो साधक होंगे योगाभ्यासी होंगे अब उनकी समाधि थी या नहीं थी या किस स्तर की थी कौन सी समाधि थी ये तो कहना मुश्किल है लेकिन जो भी थे लेकिन धार्मिक होंगे अवश्य और धार्मिक में भी आध्यात्मिक होंगे योग की तरह बढ़े हुए होंगे अंतःकरण पवित्र किया होगा तो उस दृष्टि से हम उनको पवित्र आत्मा कह सकते हैं जो आत्माएं थी जिनको अगले जन्म में मनुष्य मिलना था मनुष्य जन्म उनमें जो सर्वश्रेष्ठ थी चार उनको परमात्मा ने ये ज्ञान दिया ये हमारे को उपलब्ध मिलता है अब वो ज्ञान समाधि की स्थिति में हो या बिना समाधि के दोनों तरह हो सकते हैं भाई समाधि में हम क्या सोचते हैं कि समाधि की स्थिति में एकाग्र रहता है व्यक्ति एकाग्र रहता है उस समय परमात्मा अंतकरण में देता है एक तो होता है कि जीवात्मा समाधि लगाता है और ईश्वर से कामना प्रार्थना करता है ईश्वर का साक्षात्कार करता है और वहां ज्ञान उसको प्राप्त होता है ये प्रक्रिया तो वो है जो आत्मा चाहता है उस तरह प्रयत्न करता है वहां क्या था वहां किसकी किसकी किसको आवश्यकता थी अधिक आत्माओं के लिए थी लेकिन परमात्मा को वो देना था अभी तो सृष्टि क्रम चल रहा है वेद भी उपलब्ध है ये सब है अब अभी परमात्मा को वैसी आवश्यकता नहीं है कि देना ही है देता है अभी भी लेकिन उस समय तो उसको वो सृष्टि क्रम उसका वो कर्तव्य में आता है कि उसे देना है ज्ञान जीवात्माओं के कल्याण के लिए तो उस अवस्था को जिस भी अवस्था में उसमें अंतकरण में ज्ञान देता है सीधा बोल करके दिखा करके ये तो कुछ नहीं अंतकरण में ज्ञान देता है और उसी से वो समझते चले जाते हैं बस सब चीजों को जानते चले जाते हैं उनको ज्ञान बोध होता जाता है जैसे जैसे जिन वस्तुओं के संपर्क में आते जाते हैं वहां ज्ञान होता चला जाता है ठीक है और ये ज्ञान बाकी का उनको अंदर ही अंदर मिल जाता है उसके लिए अगर कुछ एकाग्रता की आवश्यकता है तो परमात्मा को वो बना करके भी दे दे तो कोई बात नहीं है जैसे हम नींद में जाते हैं हम नींद में कैसे जाते हैं हम जाते हैं या नींद आ जाती है हैं? प्रयत्न करते हैं जिनको नींद नहीं आती है उनको यू कहा जाता है कि नींद में जाने का जितना प्रयत्न करोगे उतनी नींद दूर चली जाएगी नींद के लिए कोई प्रयत्न करते हैं क्या कि भाई ये प्रयत्न हो हम प्रयत्न केवल इतना करते हैं कि, कि प्रयत्नों को छोड़ते हैं अन्य प्रयत्नों को छोड़ते हैं वे काम काज छोड़ दिए बिस्तर पे जाके लेट गए शरीर को ढीला छोड़ दिया ढीले वस्त्र पहन लिए बिजली बंद कर दी मच्छरदानी लगा दी सब कामों से निवृत्त होकर के चले गए आंखें बंद कर ली <laughs> ये क्या कर <laughs> हम नींद के लिए प्रयत्न कर रहे हैं या प्रयत्नों को छोड़ रहे हैं हम प्रयत्नों को छोड़ते हैं अब जो नींद प्रारंभ होती है वो ऐसे तो नहीं है जैसे कि हम भोजन करना प्रारंभ करते हैं ऐसे नींद प्रारंभ करते हैं <laughs> ऐसा तो नहीं होता है कैसे होता है ये ये परमात्मा की व्यवस्था से होता है तो जैसे नींद आती है ऐसे एकाग्र अवस्था शांति की अवस्था कि बाहर से जैसे नींद आते समय हम आंखें भी बंद होने लग जाती हैं व्यक्ति की कम खुलती है इंद्रियां कम काम करना कर लगती हैं कुछ सुनाई नहीं देगा ज्यादा नहीं होगा बैठा नहीं जाएगा उससे चला नहीं जाएगा और लेटने की इच्छा होगी उसकी अपने आप उस तरफ जाता है ना ऐसे ही जब परमात्मा को समाधि लगानी होती है वो अंतर्मुखी बनेगा बाहर देखने की इच्छा नहीं करेगी उसकी धीरे धीरे आपने उन लोगों को देखा जो मूर्छित होते हैं मूर्छित जैसे शल्य क्रिया करवाते हैं करते हैं तो इंजेक्शन देते हैं ना उनको एनेस्थीसिया देते हैं संज्ञाहरण के लिए तो इंजेक्शन दिया फिर कैसे कैसे जाते हैं वो धीरे धीरे धीरे धीरे कैसे आपने चैनलों पे भी देखा होगा डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफी या एनिमल प्लानट पे पशुओं को चिकित्सा करते हैं ना जंगल में तो उनको पहले मूर्छित करते हैं ऐसी बंदूक चलाते हैं उसमें तीर होता है उसमें दवाई होती है इंजेक्शन होता है वो <laughs> जाके लगता है पास में तो जा नहीं सकते वो खा जाएगा या तो खतरा होगा तो दूर से गाड़ी में बैठ के गोली छोड़ देते हैं फिर उनमें जाते हैं लगता है फिर इंजेक्शन अंदर चला जाता है वो भी उसमें दिखाते हैं चैनल के ऊपर आप लोगों ने जिन्होंने भी देखा होगा तो कैसे होता है हाथी है भैंसा है हिरण है शेर है कैसे होते हैं वो पहले तो इतना भौंक रहे होते हैं सुई लगती है आके इंजेक्शन तो एकदम चौंकते भी हैं आक्रमण भी करते हैं फिर धीरे धीरे थोड़े सुस्त होने लग जाते हैं सुस्त होते होते बैठ जाते हैं बैठ बैठते बैठते लुढ़क जाते हैं आंखें बंद हो जाती हैं जैसे सो जाते हैं मूर्छित हो गया वो संज्ञाहरण हो गया तो समाधि की अवस्था में भी बाह्य वृत्तियां रुकती हैं लेकिन अंदर से जागरूक रहते हैं अंदर से जागरूक रहता है मूर्छा में निद्रा में भी बाह्य वृत्तियां बहिर्मुखी नहीं रहता बाहर से अंदर आता है लेकिन अंदर भी उसको बोध नहीं रहता समाधि में और निद्रा में मूर्छा में ये अंतर होता है तो परमात्मा ऐसी व्यवस्थाएं कर सकता है उतनी सामर्थ्य है उसकी यदि आप ये नियम मानते हो कि समाधि में ही ज्ञान देता है उस पक्ष में कह रहा हूं लेकिन उस पक्ष को मैं मान के नहीं चल रहा हूं कि ऐसा ही होता है वैसा भी हो सकता है कुछ चीजें विशेष स्थिति में परमात्मा देता होगा लेकिन कुछ चीजें जैसे व्यवहार में हम चल रहे हैं फिर रहे हैं बहुत सारा हमारे को जैसे अचानक ज्ञान सूझ जाता है सूझता है अंदर ऊहा होती है उपज होती है प्रतिभा प्रातिभ ज्ञान होता है ऐसे ऐसे मान लो वो ऋषि स्तर के जिनको ये जान दिया जा रहा है चार ऋषियों को वो अपना व्यवहार कर रहे हैं करते करते उनको अपने आप होता चला जाएगा सारा जैसे कि वो जानते हो उनको सामने ये चीज आ गई अब ये यंत्र आ गया अब जो अनजान व्यक्ति है वो तो खोल खोल करके सीखेगा अच्छा ये है ये है कुछ पता लगेगा कुछ नहीं लगेगा जैसे एक जानकार व्यक्ति आके अच्छा ये है वो किया ये किया एक जानकार व्यक्ति कैसे करता है ऐसे वो आए उन्होंने कोई चीज देखी कि ऐसा है बस वो करते चले जाएंगे जैसे कि अंदर से उनके ज्ञान आता चला जा रहा है आता चला जा रहा है जैसे कि उनका जाना हुआ है तो <clears throat> परमात्मा की तरफ से जो वेद का ज्ञान दिया गया होगा उसकी दोनों संभावनाएं समाधि में ही दिया हो ऐसा नियम नहीं उसमें भी दिया होगा और अन्य व्यवहार आदि करते समय भी बहुत सारी चीजें ज्ञान होता गया होगा मान लो नदी बह रही है नाला बह रहा है अब पानी है उधर जाना है वहां पर फल है इधर फल नहीं है तो क्या मान लो लकड़ी रखी है पट्टा रखा है उसको उपाय सूझेगा कि अच्छा ये कर लो इसको कर लो ऐसा कर लो जैसे छोटे बच्चों को आप देखो बहुत सी चीजें बिना सिखाए भी वो खुद करते हैं ना पशु भी करते हैं ना ऐसा पक्षी भी करते हैं ऐसा तो ऐसे कुछ चीजें तो यूं सीखते जाते हैं और कुछ विशेष ज्ञान परमात्मा की तरफ से समाधि में भी हो सकता है और परमात्मा यदि समाधि लगाता भी है तो वो कोई अन्याय नहीं कहलाता कि बिना पुरुषार्थ के लगा रहा है वो तो उसके लिए आवश्यक है वहां आगे क्या सभी ऋषि एक ही भाषा में ज्ञान देते हैं तो उसके लिए हाँ उत्तर आएगा एक ही भाषा थी पहले बाद में ये भेद हो गए हैं अगला प्रश्न क्या प्रारंभ में पवित्र आत्माएं ही जन्म लेती हैं या बुरी आत्माएं भी कोई भी लेती है सृष्टि के प्रारंभ में जिनका जन्म हुआ वो सब पवित्र आत्माएं ही थी ऐसा कुछ नहीं ये चार आत्माएं तो पवित्र सबसे श्रेष्ठ थी लेकिन बाकी आत्माएं भी तो जैसी भी हो सकती हैं सभी तरह की हो सकती है अगर पवित्र तो ठीक लेकिन जब तक ऋषियों को ज्ञान नहीं होगा तब तक वो ज्ञान नहीं दे सकते और जब तक ऋषि सही गलत जनता को नहीं बताएंगे तो कुछ पवित्र आत्माएं तो इंद्रियों के भोगों में फंसकर बुरे कर्म कर देगा तो उसका दोष किसे लगेगा उसे ऋषि को या ईश्वर को ऐसा नहीं होगा ना वो उत्तर पहले भी आ चुका कि प्रारंभ में जो तो कुछ गतिविधियां होंगी उसको आप पाप पुण्य में नहीं लेंगे वो एक सामान्य गतिविधियां चल रही हैं फिर तो ज्ञान हो ही जाता है तब से फिर पाप और पुण्य की भाषा शुरू हो जाएगी आगे प्रश्न है कि कभी कभी लगता है चार ऋषि को अलग अलग वेदों का ज्ञान देने से अथवा एक ऋषि को चारों वेदों का ज्ञान दे देते नहीं हाँ कभी कभी लगता है कि चार ऋषियों को अलग अलग वेदों का ज्ञान देने से अच्छा एक ऋषि को चारों वेदों का ज्ञान दे देते हैं तो क्यों एक ऋषि को ज्ञान देना अच्छा चार की बजाय ये प्रश्न आएगा आपने कारण नहीं लिखा है कि क्यों क्यों अच्छा है आप क्या लिखते हैं या चार ऋषि कम नहीं है अगला प्रश्न आप इसका विपरीत कर रहे हो क्या चार ऋषि कम नहीं है अगर चार ऋषि भी कम है तो चार आपको ये क्यों लगता है कभी कभी कि चार की बजाय तो एक को दे देते तो ज्यादा अच्छा था अगर एक ऋषि को चारों वेदों का ज्ञान होता चारों को चारों वेदों का ज्ञान देते ये कह रहे हो आप अच्छा कि चारों ऋषियों को चारों वेदों का ज्ञान दे देते एक एक को एक एक ना देते या चार ऋषि कम नहीं है आपको चार ऋषि भी कम लग रहे हैं अब जो व्यवस्था है ईश्वर की जैसा हम जानते हैं वो उसी रूप में है और एक एक को एक एक का ज्ञान दिया हम कह भी सकते हैं कि ये कठिन होता है उस समय में एक ही को सारा ज्ञान देते और आप वाली कई समस्याएं कि देर लगती वो किसको बताता कितनों को बताता तो चार को दे दिया उन्होंने चार उसके उनके हिसाब से पर्याप्त होंगे आगे जब तक ज्ञान आम जनता में नहीं फैलता तब का राजनीतिक सामाजिक घरेलू अस्पताल विद्यालय भोजन आदि की क्या स्थिति होती होगी कुछ नहीं सामान्य पशुवत चलेगा पशुवत चले <laughs> जैसे वो चलता है वैसे चलेगा आपने आगे लिखा क्योंकि पेड़ से फल कब तक खाएंगे कभी ना कभी तो खत्म होंगे खत्म होने की तो बात ही नहीं है मनुष्य बहुत थोड़े से फल इतने बहुत ज्यादा समाप्त नहीं होते वो समाप्त होने की संभावना नहीं यहाँ नहीं वहां है बहुत दूर तो मतलब क्षेत्र होगा काफी उसमें इसकी संभावना आज भी पृथ्वी पर इतना अन्न होता है कि मनुष्यों की जितनी आवश्यकता है उससे अधिक अन्न होता है आज भी हाँ, ऐसा छह गुना वो कहते हैं उस तरह का जितना लेकिन इतना अधिक होता है ये पृथ्वी में इतनी सामर्थ्य इतनी आबादी बढ़ गई इतना सब कुछ हो गया तो भी यद्यपि भूखमरी है कुपोषण है वो एक अलग बात है वो अव्यवस्था का कारण है हमारा लेकिन अन्न आज भी इतना उपलब्ध होता है इस पृथ्वी पर फल आदि भी इतने हो सकते हैं जितने कि हमारे से खाए ना जाए इतने गाय भैंसे हो सकती हैं उनके दू, उनका दूध हो सकता है कि हमारे से पिया ना जाए इतना घी मक्खन हो सकता है कि हमारे से खाया ना जाए इतने सूखे में वे हो सकते हैं कि हमारे से खाए ना जाए इतनी सामर्थ्य आज भी है तो उस समय तो ऐसी संभावना हम कर ही नहीं सकते लेकिन ये जो आप चीजें कह रहे हो ये घरेलू सामाजिक स्थितियां कुछ तो स्वभावतः वैसे ही बनती चली जाती है समझते गए सब सामान्य रूप से सभी को प्रारंभिक जो ज्ञान ईश्वर देता है उसके अनुसार और फिर जो विशेष ज्ञान परमात्मा ने चार ऋषियों को दिया उन्होंने औरों को समझाया करा उससे फिर व्यवस्थाएं धीरे धीरे बनी होंगी तो एकदम नहीं बन जाती है प्रश्न आगे है जिनको ज्ञान नहीं देता वो तो व्यवस्थित नहीं होगा तो वो उन चार ऋषियों की बात कैसे मानेगा क्यों मानेगा क्यों मानेगा ईश्वर जीव प्रकृति को उनके पास कोई लोक उदाहरण प्रमाण भी नहीं होगा तो कैसे साबित करेंगे देखो ये वाक्य इन्होंने जो देखा ना उनके पास कोई लोक उदाहरण प्रमाण भी नहीं होगा तो कैसे साबित करेंगे हुँ? हम्म? आज न्याय दर्शन में क्या पढ़ा था दृष्टांत का ठीक है दृष्टांत कैसा होना चाहिए जिसमें लोक और लौकिक और परीक्षक का बुद्धि सामने हो यानी इन्होंने तो न्याय दर्शन नहीं पढ़ा है ना लेकिन ये एक युक्ति सूझेगी ही दिमाग में उदाहरण तो वो होगा जो लौकिक होगा जो लोगों को समझ में आए नहीं तो उदाहरण क्या होगा ये सहज ही आएगा दिमाग में युक्ति से सोचेगा तो यही है कि उदाहरण तो वही होना चाहिए जो समझ में आए दूसरों को अब उनको कुछ पता ही नहीं है तो उनको समझाया कैसे होगा इस तरह से प्रश्न उठाते देखो उनको तो ऋषियों की बात को जो समझेंगे वो मानेंगे कोई अनिवार्यता नहीं है कि वो मानेंगे जैसे आज भी नहीं मानते मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है सुनने में स्वतंत्र है मानने न मानने में स्वतंत्र है ये स्वतंत्रता उस समय की भी मनुष्यों को थी भी कोई अनिवार्यता नहीं थी कि चार ऋषियों ने जाना और बाकी सब बाध्य थे उस, उसको सुनने समझने के लिए कोई सुने नहीं भी सुने सुने और अपनाए नहीं भी अपनाए किसी ने अच्छी तरह सुना अधिक अपनाया किसी ने कम सुना किसी ने कम अपनाया ये सारी बातें जैसे आज होती हैं ऐसे उस समय भी रही होंगी ठीक है ये होगा अब आप लोगों में से भी किसी को और पूछना है जो पहले हाथ खड़ा कर रहे थे चलो पहले आप बताइए ऐसा ही वो मानते हैं बाद में वहां से मनुष्य फैले फैले फैलते गए फैलते फैलते सब जगह गए फिर अलग अलग जगह के तापमान खान पान व्यवस्था उससे उनके रंग रूप में परिवर्तन हुए और आज बहुत भिन्न भिन्नताएं आज देखी जाती हैं तो है

दोनों बातें देखो हो सकती हैं कि मान लो प्रारंभ में भी उत्पन्न हुए हो उसमें भी प्रारंभ से ही कुछ भिन्नता रखी गई हो ठीक है प्रारंभ से भी भिन्न प्रारंभ में सारे एक जैसे हो ऐसा नहीं प्रारंभ से भी भिन्नता हो सकती है और इतने लंबे काल के बाद में भी भिन्नताएं होती हैं अब जहां एक जैसे रहते हैं वहां भी तो सब तरह के होते हैं अलग अलग रंग रूप वाले ऊंचे नीचे पतले मोटे लंबे छोटे ठीक है किसी का कान कैसा किसी की नाक कैसी किसी का आंख कैसा किसी के दांत कैसे सब भिन्नताएं होती हैं आज भी यहाँ पर होती हैं वहां कुछ हमें अधिक दिखती हैं होते होते अलग अलग हो जाती हैं यहाँ भी अलग अलग हो जाती हैं ऐसा तो इसलिए एकदम यूं कहना स्वामी जी ने तो यही लिखा है कि तिब्बत हुए वहां से फैले और फिर देश काल परिस्थिति के अनुसार उनके रंग रूप बदले ठीक है अभी रुको अभी आपने फिर ये कहा था कि ये तो एशिया में है तो वहां कैसे गए अमेरिका में कैसे गए जैसे आजकल को जो नक्शा बताते हैं तो जो दक्षिण अमेरिका है उसका भाग और अफ्रीका का भाग वो वो जुड़ता हुआ होता वो प्लेटें टूट गई आज भी वो इधर उधर खिसकती हैं ये तो उस समय क्या स्थिति रही होगी आज की स्थिति रही है नहीं रही है ये तो हम नहीं कह सकते जुड़े हुए होंगे पहले इधर होंगे पहले ये एशिया का भाग नीचे वाला अलग था और रूस वाला जो यूरोप वाला भाग अलग था शायद ऐसा ही कहते हैं ज्योग्राफी में फिर वो होकर के पास पास में आए वो प्लेट टकड़ी और ये हिमालय भी ऊपर उठ गया ये सारा तो इनका गतिविधि तो आजकल मानी जाती है और कुछ आकार प्रकार भी ऐसा लगता है कि तो वो यहीं से टूट करके गया होगा ये अफ्रीका का जो भाग है अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका वाला जो भाग है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे यहां से सरक करके यू गया हुआ है वहां उसको जोड़ो तो वहीं जा करके जुड़ेगा ऐसा लगता है तो फिर भी इसमें बहुत तरह की संभावनाएं हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा और अगर अलग अलग भी थे तो नौकाएं हैं जाने के साधन हैं जैसे भी गए होंगे वो आज भी प्रक्रियाएं हैं वो सब सीख लिया हो चले गए हो बहुत सारी चीजें उसमें हो सकती हैं वायुयान हो तो वायुयान से चले गए हों जैसे भी गए हों लेकिन गए पहुंचे हैं देशांतर प्राप्ति है तो प्रव्रज्या गति तो हुई ही होगी कैसे हुई ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि वो नौक नाव से हो चाहे वायुयान से हो और कोई तरीका हो तो वो हो लेकिन पहुंची स्वामी जी तो किसी तो किसी तो से पवित्र आत्मा है और भस्म से और ज्ञान जो पवित्र आत्मा है वो कम है ईश्वर ऐसे केस में रखा करेगा और ये ही कहा जाता है कि हर धरती के लिए चाल चाल करेगा मतलब आप धरती का मतलब कह रहे हो कि एक तो ये पृथ्वी हो गई एक और पृथ्वियां भी हैं तो जो व्यवस्था यहाँ है वो व्यवस्था अन्य पृथ्वियों पे भी होनी चाहिए इसी तरह वहां भी जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो चार ऋषियों को तो सब जगह चार चार चार चार चार चार सब जगह चार चार होने चाहिए ठीक है तो इस पृथ्वी पर दस हो वहां पर दो ही हो पिछली सृष्टि में उससे पिछली सृष्टि में तो कैसे व्यवस्था करता होगा तो वो तो बहुत सरल है परमात्मा के लिए कहीं भी इधर से उधर उधर से इधर भेज सकता है वो जैसे आ, हम्म। देखिए जो वाक्य आप बोल रहे हैं और उसका जो अर्थ निकल रहा है ऐसा कौन कहता है मैंने तो नहीं कहा है अभी मैं तो बता रहा हूं मैं बता रहा हूं देखो वाक्य पे ध्यान देना न्याय दर्शन वाले खासतौर से ध्यान देना कि पिछली सृष्टि में चार पवित्र आत्माएं थी पिछली सृष्टि में इनका कथन क्या है ऐसा ही है ना कथन आपका पिछली सृष्टि में चार पवित्र आत्माएं थी तो ये कैसे कह सकते हैं दोनों का बिल्कुल अलग अलग अर्थ है आप जो प्रस्तुति दे रहे हो उसमें क्या बात छिपी हुई है आक्षेप इन <laughs> पिछली सृष्टि में चार ही पवित्र आत्माएं थी ये मान करके ये प्रश्न कर रहे हैं आज जो एक अधिकरण सिद्धांत था जो अभी हम और आगे समझेंगे कि वक्ता ये चीज बोल रहा है तो पीछे क्या आधार मान करके ये बोल रहा है कुछ आधार होता है उसका ठीक है वो कहा नहीं है उन्होंने लेकिन हमें कहना यही चाहते हैं क्योंकि इनका आक्षेप ही तभी बनता है कि पिछली सृष्टि में चार आत्माएं थी अभी कथन सारा क्या है कि जो नई सृष्टि होती है उसमें चार को वेद का ज्ञान देता है वो चार कौन होते हैं जो पिछली सृष्टि के सर्वाधिक पवित्र आत्माएं होती हैं ठीक है अब वो उसी पृथ्वी की हो या किस पृथ्वी की हो ये तो पृथ्वी तो सारी प्रलय में चली गई थी फिर नई सृष्टि बनी है वो कौन सी है क्या है लेकिन इस सृष्टि पर इस भूमि पर हमारी जो भूमि है ये पृथ्वी है इस पर जिन चार ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया गया वो चार पिछली सृष्टि की पवित्र आत्माएं थी पुण्य आत्माएं थी दूसरी पृथ्वी पर भी कहीं जहां दूसरी जगह भी इसी तरह सृष्टि बनी और ऐसी न जाने वो भी कितनी पृथ्वियां हैं जहां पर वेदों का ज्ञान और ये सारा सृष्टि चल रही है आज भी वहां भी किन्हीं चार पवित्र आत्माओं को दिया तो पिछली सृष्टियों के जो जो अच्छी पवित्र आत्माएं थी कहां भी यहां थी या कहीं भी जिस भी पृथ्वी पे थी अब मान लो जितनी पृथ्वियां हैं उन, उनसे चार गुने व्यक्ति चाहिए किसको कौन सा ज्ञान देना है उस तरह से उनको सब जगह देती है और हर सृष्टि में अलग अलग तरह की पवित्र आत्माएं हो सकती हैं बिल्कुल एक जैसी हो ये तो नहीं कह सकते इस बार के प्रलय के समय कौन कैसी रहेंगी पिछली बार के प्रलय के समय कैसी थी भिन्न भिन्न हो सकती हैं लेकिन जो थी जैसी थी उनमें से जो चार सर्वश्रेष्ठ थी इस पृथ्वी के लिए उनमें से जो पिछली सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ थी उनमें से चुनो चुनाव होता है जैसे कि आज मान लो प्रशासनिक अधिकारियों का चयन होता है इंजीनियर का होता है डॉक्टरों का परीक्षाएं होती हैं तो हर बार समान योग्यता वाले आते हो ऐसा तो नहीं कह सकते किसी साल में विशेष भी हो जाते हैं किसी साल में कुछ कम भी हो जाते हैं कोई प्रतिभा वाला किसी दिन किसी वर्ष में आ गया दूसरे साल में वो ऐसा नहीं भी हो सकता है जो भी है उनमें से जो सबसे ऊपर के मान लो चार सौ बनाने दो सौ आईपीएस बनाने जितने हैं उनमें से जो ऊपर के हैं वो ले लिए जाते हैं ऐसे ही पिछली सृष्टि के जो जो भी थे जैसे भी श्रेष्ठ थे कम ज्यादा हो सकते हैं वो अगली सृष्टि में उनमें से चयन करके चार चार को अलग अलग पृथ्वियों पर चुन करके वो परमात्मा कर सकता है उनको ये वेद का ज्ञान देता होगा ये अभिप्राय आप पूछिए नहीं चूंकि चूंकि ये मुख्य चर्चा प्राय जो चलती है वो हमारी इस पृथ्वी को लेकर के चलती है इससे सृष्टि के प्रारंभ में चार ऋषियों को ज्ञान दिया मतलब इस पृथ्वी पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अन्य सृष्टियों में नहीं देता अन्य पृथ्वियों पर नहीं देता वहां भी है बहुत है वहां भी और ऐसे न जाने कितने वो चार हजार या चार लाख या चार करोड़ कितने हैं ये हम तो कुछ नहीं कह सकते हो सकते हैं इतने चार करोड़ भी हो सकते हैं तो एक करोड़ पृथ्वियां हो कोई बड़ी बात नहीं है एक करोड़ क्या एक अरब खरब पृथ्वियां भी हो सकती हैं तो उतने ही उतनी आत्माएं भी जिन्होंने वेद का ज्ञान प्राप्त किया सृष्टि के प्रारंभ में हो सकती हैं ठीक है आपका तो हो गया और कौन कह रहे इनका दिलीप जी आप पहले हाथ खड़ा कर रहे थे हो गया आपका प्रश्न अच्छा तेजेंद्र जी हमारी सृष्टि बदलती है लगभग दो अरब वर्ष तो मतलब स्वामी लिखा है कि हिमालय पे सृष्टि की उत्पत्ति है तो आज की गणना के अनुसार अगर देखें तो हिमालय की तो आज दो करोड़ ही है तो ये कैसे सामने दो और दो तो करोड़ आपने भूगोल पढ़ा है ये आपको किसी ने प्रश्न उठाया था देखिए प्रश्न ये इनका क्यों है ये प्रश्न जिनके मन में नहीं भी आया तो अब उठ जाएगा कि आधुनिक वैज्ञानिक जैसे मैं अभी प्लेटों का बता रहा था एशिया और यूरोप की प्लेटें आई और करी और वो हिमालय बना तिब्बत जो है जो आज का तिब्बत है त्रिविष्ट प्रदेश है ये हिमालय की क्या कहते हैं तराई बोलते हैं उसको या तो एक तलह, तलहटी भी नहीं कहेंगे तलहटी तो एकदम बिलो होता है पठार भाग जो है पठार बोलते हैं उसको यानी पर्वत के ऊपर का जो कुछ समतल भाग होता है लंबा काफी सारा हालांकि ऊंचा नीचा होता है वो भी वो एक ऐसा स्थान था एकदम पहाड़ नहीं है वो कुछ बीच में ऐसा होता है पठार बोलते हैं पठार भाग बोलते हैं उसको तो जब ये हिमालय के गोद में है हिमालय के अंदर है और हिमालय ही बना अब है हिमालय को बने ही दो करोड़ वर्ष के लगभग जैसा भी ये मानते होंगे मेरे को गणना पता नहीं है कितना लेकिन इनके मान्य के अनुसार बोल रहा हूं कि हिमालय को बने ही दो करोड़ वर्ष हुए हैं इसका मतलब है तिब्बत प्रदेश को भी बने हुए इतना ही समय हुआ है और हमारी गणना है एक अरब छियानवे करोड़ की तो ये कैसे संभव है तो इसके अंदर जो संभावना बनती है महर्षि ने लिखा है तो हम उसको भी मानते हैं आधुनिक विज्ञान ने कहा है तो वो भी मान के चलते हैं कि भाई ऐसा भी हुआ होगा और संभावना लगती है आज का तिब्बत जिस जगह पे जितनी ऊंचाई पे है उस पहले वाला भी वहीं हो ये तो नहीं कह रहे हो सकता है आज हिमालय पर्वत भी हर साल ऊंचा होता जा रहा है ऊंचा होता जा रहा है वैज्ञानिकों की गणना है बढ़ता जा रहा है जैसे पेड़ बढ़, पेड़, पेड़ बढ़ता है जैसे क्योंकि वो जो दो प्लेटें हैं यूरोप और एशिया की वो आपस में एक दूसरे को धक्का लगा रही है विपरीत चल रही है तो हो जाता है दो किताबें या कागज हो और उनको यूं यूं करो तो क्या होगा ऊपर उठेगा तो हिमालय ऊपर उठता जा रहा है प्रतिवर्ष ऊंचा ऊंचा उठ रहा है <clears throat> तो आज का जो तिब्बत प्रदेश है जिस रूप में है आदि सृष्टि में भी ऐसा ही हो ये तो नहीं कह सकते लेकिन वहां कोई वो जगह तो होगी ना कुछ ना कुछ उतनी नहीं नीचे होगी कहीं कोई जो प्लेटें हैं वो तो थी ना आज टकरा गई थोड़ी ऊपर चली गई जो भी है लेकिन कहीं तो वो जगह रही होगी कहीं ना कहीं तो जन्म हुआ ही होगा ये तो मानना ही पड़ेगा तो महर्षि ने जो त्रिवृष्टभ प्रदेश कहा वो आज वाला त्रिवृष्टभ ऐसा का ऐसा हो ये नहीं कह सकते भारत भी सारा पहले इतने वर्ष पहले ऐसा का ऐसा हो ये नहीं कह सकते परिवर्तन होते रहते हैं भिन्नताएं होती रहती हैं भूकंप आते हैं ये होता है वो होता है जलजला यानी तो बिल्कुल वो तो सुनामी जैसा या तो एकदम जैसे बाढ़ बाढ़ आ गई अभी जैसा हो गया उत्तरकाशी में इधर ये उत्तराखंड में तो इधर का उधर और बहुत ज्यादा सामग्री इधर से उधर एकदम स्वरूप ही बदल जाता है और आजकल तो कम होता है उस समय तो बहुत ज्यादा था प्रारंभ में आज के भूगोल के हिसाब से माने तो ज्योग्राफी के अनुसार तो ये उथल पुथल और ये सब को स्थान मानते हुए भी कोई ऐसी जगह रही होगी ऊंची थोड़ी सी जहां अधिक सुरक्षित होगा जहां अधिक अनुकूल होगा वातावरण ठीक होगा जल ठीक होगा उन सब स्थितियों के अंदर वो वहां पर हुआ और प्रारंभ में जैसा कि आज के भूगोल में भी मानते हैं अब जैसे ध्रुव प्रदेश पर जो इतनी बर्फ जमी हुई है पहले समुद्र ज्यादा था हिमयुग आया वो वहां बर्फ ज्यादा हुई करी तो समुद्र का पानी नीचे चला जा गया जैसे आज उल्टा हो रहा है कि ध्रुव प्रदेशों में बर्फ पिघल रही है तो समुद्र का तल ऊपर बढ़ रहा है लेकिन कभी जब वहां बर्फ जम जा रही होगी तब समुद्र का तल नीचे जा रहा होगा यहां से भाप उड़ रही है और जाकर के वहां पर बरस रहा है और वहां इकट्ठा हो गया बर्फ के रूप में आज भी इतनी इतनी परतें वहां पर जमी भी हैं वो भी तो कभी धीरे धीरे गिरी हैं पहले नहीं थी बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते हुई है तो ये उतल पुतल इस सृष्टि में होती रहती है अलग अलग युग आते रहते हैं उस दृष्टि से ऐसा महर्षि का अभिप्राय न माना जाए तो ज्यादा अच्छा है कि जैसा आज तिब्बत है बिल्कुल वो का वो वैसा का वैसा ही था परिवर्तन हुए होंगे लेकिन जो आज तिब्बत है वो ऊंचा या नीचा कहीं ना कहीं तो होगा ही इतना ऊंचा नहीं होगा तो कम होगा तो उस दृष्टि से उस कथन को हम संगत मान सकते हैं इस रूप में श्रुति तक संस्कार है वो सब ऐसे वैसे आ गए तो कर्माशय भी संस्कार भी तो इसमें प्रलय में तो उनके चित्त भी तो चित्त भी नष्ट हो जाते हैं हम्म। तो अब क्या मानना चाहिए वही चित्त वापस मिलते मानना चाहिए या ईश्वर उनके संस्कारों को कर्माशय को याद रखकर के फिर नई सृष्टि में जो चित्त बनाता है हम्म। उनके अवसर बनाते हैं दूसरा पक्ष ठीक है दो पक्ष हैं एक तो है कि हमारे चित्त नष्ट ही ना होते हो बने रहते हो और फिर मिलते हो वो सिद्धांत विरुद्ध प्रतीत होता है क्योंकि सबका प्रलय हो रहा है सब सत्वर स्तंभ में जा रहा है तो चित्त मन ये भी सब प्रलय में चले गए लेकिन अगली सृष्टि में सिर्फ प्रलय के बाद में भी तो ही के ही चित्त वैसे के वैसे मिलने चाहिए ये भी न्याय संगत है वैसे ही संस्कार वाला अच्छा परमात्मा सर्वज्ञ है इसलिए वो जान सकता है सर्वशक्तिमान है इसलिए वो वैसे ही चित्त बना सकता है ये संभावना हमारे पास में है इसलिए सिद्धांत विरुद्ध नहीं होगा तो वो पक्ष समझ में आता है अभी हालांकि इसके लिए कोई सीधे सीधे लिखी हुई चीज तो देखने में नहीं आती इसका प्रश्न का उत्तर लेकिन प्रबल संभावना या युक्ति संगत यही बात लगती है परमात्मा ऐसा कर सकता है पिछली सृष्टि में जैसा था वैसा ही बना करके दे सकता है प्रमाण नहीं है मेरी जानकारी में भी नहीं ऐसा कोई किसी ने बताया भी हो याद नहीं आता ये संभावना पे कथन है सारे उहा पे गलत भी हो सकते हैं यदि इससे अच्छी कोई संभावना प्रतीत होती हो तो उसे हम मान सकते हैं या साक्षात प्रमाण मिल जाए शब्द प्रमाण तो मान सकते हैं इसके लिए एक लौकिक उदाहरण दें कि जैसे खेल खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं खेलते खेलते गेंद फट गई वो टेढ़ी हो गई अब वो खेल नहीं सकते लेकिन पूरे ओवर नहीं हुए हैं अभी और कई बार वो ऐसी फेंकते हैं कि वो छज्जे पे जाके यानी स्टेडियम के ऊपर जाकर के अटक गई और छक्का मारा और वो वहीं रह गई अब क्या करेंगे हैं वो गेंदे तो नहीं है उनके पास में या तो पुरानी है और अगर नई है वैसी नहीं है बिल्कुल हर ओवर की और बिल्कुल वैसी की वैसी तो होती नहीं है कुछ बोले रहती हैं वो आती हैं <laughs> उन पर लिखा रहता है इतनी पुरानी है इतनी खेली भी है और जो एम्पायर होते हैं निरीक्षक होते हैं वो उनको भी अंदाजा रहता है कि लगभग कैसी अनुभवी होते हैं तो वो उसको अगर नहीं होती है तो वैसे घिस घुसा करके वैसी बनाते हैं और नई भी आ गई तो उसको वैसा लगभग वैसी वैसी बना देते हैं जितनी कि मान लो 25, 30, 40 ओवर हो चुके उसके बाद में जैसी गेंद होती है वैसी बना देते हैं तो ये न्याय संगत है ऐसा होना चाहिए तो इसी प्रकार से परमात्मा नया चित्त बनाएगा वह पुरानी गेंद तो ला नहीं सकता वो <laughs> सृष्टि के प्रारंभ में है तो सारे चित्त नए ही होंगे फैक्ट्री से निकल के आए जैसे ऐसे नई बॉल आई होगी <laughs> लेकिन किसकी बॉल किसको कौन चित्त कैसा देना है कैसे संस्कार वाला देना है तो उसको जानकारी रहती है उसके अनुरूप देता है ये न्याय संगत है उचित है ये परिकल्पना हम कर सकते हैं तो ये दूसरा पक्ष अधिक है सत्यवती और जापान वैज्ञानिकों की तो टीम ने ये कई मतलब इसके लिए उन्होंने परीक्षा करी और ये रिसर्च करा था शोध रिसर्च की मेरी मतलब वही सारी उसका प्रमाण आपके पास हो तो बताना ये स्रोत क्या है उसका इनका ये कहना है कि कुछ समय पहले इटली और जापान के वैज्ञानिकों ने खोज की और मनुष्यों की सृष्टि कहाँ हुई सबसे पहले इसके विषय में वो भी तिब्बत प्रदेश के लिए उन्होंने संकेत किया कि शोध निष्कर्ष उनका था तो उसके लिए मैं कह रहा था कि कोई इसका जो प्रमाण या अखबार का हो तो आप थोड़ा सा यहाँ या जैसे भी उस अभी बात सुनो उसका एक तो होती है कथन कथन में चलती है बात हमने भी सुन ली और हम भी बोलने लग गए ऐसे एक है कि आपने जहां से प्राप्त की है उसका थोड़ा स्रोत ढूंढा जाए इंटरनेट पे आजकल सुविधा है कि भाई ऐसा इटली और जापान की टीम ने कोई खोज की इस विषय में इसको खोज करके भाई शायद कहीं हो निकल करके आए कोई रिपोर्ट हो तो एक हमारे पास अधिक प्रामाणिक स्थिति बनेगी कि हाँ देखो ये की गई है अब आजकल वैज्ञानिकों के नाम से कुछ भी कह लो जैसे वेद के नाम से कुछ भी कह लेते हैं लोग कि वेद ऐसा मानता है अब कई जने कहते हैं कुछ बोलता है गीता का श्लोक है बोले वेद में ऐसा लिखा है अच्छा वो बोले जी हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है अब शास्त्र देखे नहीं और कुछ पता नहीं वेद शास्त्र विरुद्ध बात कर रहे नहीं जी हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों को चूंकि प्रमाणिक है शास्त्रों के नाम से कुछ भी बोल दो और बोले जी शास्त्रों में लिखा है ऐसा सुना है अखबार में भी तो गलत होता है अखबार में कितनी ऐसी बातें आ जाती हैं यूं ही उड़ती उड़ती और क्या का क्या रूप बना देते हैं लेकिन मैं अखबार की नहीं कह रहा हूं अभी लेकिन हम जो बोलते हैं आपने बोला बोले वहां सम्मेलन में भी किसी ने बोला था ये कि बोलना बोलना तो चल रहा है कि वैज्ञानिक को ऐसा मानते हैं इस ऐसा करके भी लोग बहुत बोलते रहते हैं यूं ही विज्ञान वैसा मानता नहीं है लेकिन क्या बोलते हैं <laughs> विज्ञान ऐसा मानता है वही कह लो आप उससे क्या होता है हमें तो प्रमाण ढूंढना पड़ेगा कि विज्ञान ऐसा मानता है या नहीं इसलिए मैं वो बात को कह रहा था आपने सूचना दी वो अच्छा है अगर ऐसा हो तो हमारे लिए बहुत प्रमाणिक चीज है तो हमारे पक्ष में जाती है ये बात प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम न्याय <laughs> आपने बात रखी माना और हम सबको प्रसन्नता होगी ये बात सिद्ध हो जाए तो आपका तो खंडन नहीं कर रहे हैं उसका हम भी चाहते हैं आपको जितनी खुशी हुई ऐसे हमारे को भी खुशी होगी पर थोड़ा सा और आधार देख करके कि हाँ ये हुआ है ये प्रमाणिक मिल गया बहुत अच्छा है उसके पे आप एक लेख भी लिख सकते हैं और जगह भी चला जाएगा सबको बहुत अच्छा लगेगा रविशंकर हाँ, जी पिछली सृष्टि में जैसी भी चित्र की स्थिति रही होगी तो अगली सृष्टि में जो चित्र जो इंस्ट्रूमेंट है मतलब यंत्र है यंत्र तो सभी का समान है संस्कार हैं जो पिछली सृष्टि में रहे होंगे वो संस्कार भी उनमें रहते होंगे वैसे की वैसे क्योंकि वो सर्वशक्तिमान मान्य और न्यायकारी है लेकिन कर्माशय के अनुसार कौन सा संस्कार उभरना है कौन सा संस्कार दबना है ये तो हो सकता होगा देखो आप जो प्रश्न कर रहे हो वो तो हर समय के लिए है सृष्टि के प्रारंभ में नया चित्त बना के देगा संस्कार देगा वो जो पिछली बात थी उसके उसको जो, जो का तू बोला इन्होंने और एक नई बात कह रहे हैं कि भाई किस संस्कार का उभरना किसका न उभरना वो कर्माशय के अनुसार वो तो आज भी होता है वो सृष्टि के प्रारंभ में भी होगा उसमें कोई यानी वो कोई विचार का विषय नहीं इस प्रसंग में नहीं है प्रश्न तो ये था कि सृष्टि के पहले चित्त था संस्कारों से युक्त था प्रलय हो गया अब चित्त रहा नहीं तो नई सृष्टि बनते समय कहाँ से दे रहा है वो चित्त और दे रहा है तो वो तो नया नया आ जाए <laughs> न्याय का हुआ वो पिछले वाला कहाँ रहा प्रश्न इतने तक ही था और उसका इतना ही उत्तर है बाकी जो प्रक्रिया है वो तो ठीक है कर्माशय के अनुसार संस्कारों का उभरना करना वो तो चलता रहेगा ठीक है जिन्होंने नहीं पूछा उनमें से कोई हो तो नहीं तो का, काफी समय हो गया आप पूछ चुके थे ना पहले पूछो स्वामी दयानंद जी ने किस प्रमाण का प्रयोग किया ये स्वामी दयानंद जी से पूछने पे पता लग सकेगा वहा वेद मंत्र ऐसा तो कोई मेरे को ध्यान नहीं आता कि उन्होंने कोई लिखा है या श्लोक लिखा है यह मनुस्मृति का श्लोक है वैदिक संप नहीं पौराणिक पोप पर वैदिक तोप उसमें लेकिन महसी दयानंद ने वैसा नहीं दिया मतलब महर्षि दयानंद की पुष्टि में कोई वेद मंत्र है ऐसा मनसाराम वैदिक तो जो हुए हैं जो शास्त्रार्थ महारथी थे तो वो कोई मंत्र उन्होंने है तो फिर थोड़ा सा करो अन्वेषण वो मंत्र भी थोड़ा देख लेंगे कि हाँ ये स्वामी दयानंद जी के मंतव्य के अनुरूप है नहीं है लेकिन हो सकता है ये बात युक्ति से कुछ शब्द मिले होंगे क्या होगा लेकिन इनका आपका प्रश्न ये है कि भाई महर्षि दयानंद ने कहा से दिया तो हम मान के चल सकते हैं भाई महर्षि दयानंद जैसे व्यक्ति ने किसी प्रमाण पे ही लिखा होगा वो प्रमाण वेद का भी हो सकता है वो प्रमाण किसी ऋषियों का भी हो सकता है अथवा उनको वैसे भी ज्ञान हुआ हो साक्षात परमात्मा से भी ज्ञान हुआ हो वो भी हो सकता है समाधि जन्य ज्ञान भी हो सकता है किसी ऋषिकृत ग्रंथ का भी हो सकता है लेकिन वो क्या है ये हमारी जानकारी में तो नहीं है हम अब बाकी जो करेंगे संभावना करेंगे अगर वेद मंत्र मिल रहा है ऐसा तो हाँ हो सकता है महर्षि ने भी इसी वेद मंत्र से लिया हो एक प्रबल संभावना बन जाती है लेकिन बाकी तो हम कोई सीधा प्रमाण इस विषय में नहीं कह सकते ठीक है श्रीवास्तव जी इसको फिर और लेंगे तो तो इस पर अलग से कभी चर्चा करेंगे आप भी एक कागज पे प्रश्न लिख करके दे दीजिएगा अभी बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए हुए हैं धीरे धीरे धीरे किसी किसी का क्रम आ जाएगा आपका भी तो आगे फिर कभी लेंगे इसको विषय को इतना ही रखते हैं सूचना मंत्र पाठ